ए पैगंबर इनसे कहो कि भला बताओ तुम अल्लाह को छोड़कर अपने जिन मन खड़त शरीकों को पूजा करते हो जरा मुझे दिखाओ कि उन्होंने जमीन का कौन सा हिस्सा पैदा किया है या आसमानों की पैदाइश में उनकी कौन सी शिरकत है या फिर हमने उन्हें कोई किताब दे रखी है जिसकी किसी वाज हिदायत पर ये लोग कायम हैं नहीं बल्कि ये जालिम लोग एक दूसरे को खालिस धोखे की यकीन दहानी करते आए हैं